शुभाय मायहिला अति हितमनो रामफिरिया भेट लखन रे लखनघुभाे शकुशने हुन हृदय समाय देखे सुभाव कहत सब को ये राम मातु अस काहे न हो माता भर तो गोद रे आंसू पोछ मृदु बचन उचारे सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू कर कोमल वचन बोली अजहु बच्छ बले धीरज हो कुसम समझे शोक हो जनि मान हिय हानि गणानि काल करम गति अघटित जाय ुहि दोषु देहु जनिता धामो सब विधि विधाता जो एतहु दुख मोहि जियावा अजहु भा हे वत्स मैं बलैया लेती हूँ तुम अब भी धीरज धरो बुरा समय जानकर शोक त्याग कर दो काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो हे तात किसी को दोष मत दो विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है पितु आयस भूषण बसन तात तजे रघुबीर विषम हर सुन हृदय कछो पहिरे बल कलचीर हे तात पिता की आज्ञा से श्री रघुबीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहन लिए उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष मुख प्रसन्न मन रंग सो सब कर सब विधि करी परितोषु चले विपिन सुने सिय संग लागे रहये न राम चरणयनुरागी सुन तहि लखनु चले उठ साथा रहहि न जतन किए रघुनाथा तब रघुपति तब ही सिरुनाये चले संग अरुलघु भाई उनका मुख प्रसन्न था मन में न आसक्ति थी न रोष द्वेष सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई श्री राम के चरणों की अनुरागणी वे किसी तरह न रहीं सुनते ही लक्ष्मण भी साथ हो उठ चले श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत प्रयत्न किए पर वे न रुके तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नमाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को सांस लेकर चले गए राम लखन से बन ही सिधाए गयो न संग न प्राण पठाए यः स भ आनयागे तौ न तजातनु जीवय निजनेहु निहारे राम सरे ससुत मैं महतारी जिय मरे भल भूपति जाना मोर हृदय सत पुलिस समाना श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे यह सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती राम सगरी के पुत्र की मैं माता जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है कौशल्या के बचन सुने भरत सहित रनिवास व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवास कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत से सारा निवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा राजमहल मानो शोक का निवास बन गया